और अगर हम चाहते तो इन आयतों की बदौलत उसे सरबलंद करते मगर वो तो ज़मीन ही की तरफ झुक कर रह गया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा रहा इसलिए उसकी मिसाल उस कुत्ते की सी हो गई कि अगर तुम उस पर हमला करो तब भी वो जबान लटका कर हाँपेगा और अगर उसे उसके हाल पर छोड़ दो तब भी जबान लटका कर हाँपेगा यह है मिसाल उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को छुटलाया है لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں